ईश्वर ने हम पर इतना प्रेम किया कि हम उसका वर्णन करने में असमर्थ है अपना इकलौता पुत्र हमारे प्रेम के खातिर कुर्बान किया उसका बलिदान किया उसके पवित्र खून से हमारे पाप धोकर हमें शुद्ध किया और हम निर्दोष हुए यह है ईश्वर प्रेम पवित्र शास्त्र में बताया है कि हमारे सभी क्लेश उसने उठाए हमारे अपराध के कारण मसीहा जख्मी हुआ हमारे दुष्कर्म ने उसे पीस डाला हमको शांति देने वाली सजा उसको प्राप्त हुई और उसको जख्मी करने वाले हंटर से हमें आरोग्यता प्राप्त हुई उस पर जुल्म किया मुकदमा चलाया उसको ले गए उसके हाल हाल किए और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया इसलिए ईश्वर ने उसे बहुत ही ऊंचा किया और हर एक नाम से जो अति श्रेष्ठ नाम उसको प्रदान किया इसलिए कि आसमान जमीन और मृत्यु लोग सभी ने यीशु मसीह के नाम से अपने घुटने जमीन पर टिकाए और ईश्वर के गौरव के लिए यीशु मसीह प्रभु है ये सत्य कबूल करे प्रीत के कारण जग का पाप हटाने आ गया प्रीत के कारण जग का पाप हटाने आ गया रंज दुनिया का सारा दर्द मिटाने आ गया रंज दुनिया का सारा दर्द मिटाने आ गया तुझको पानी न मिला और तू प्यासा ही गया क्या जमाना था तेरा कोई नाम दर्द मिला आज दुनिया को आज दुनिया को तू जिंदा जल देने आ गया आज दुनिया को तू जिंदा जल देने आ गया रंज दुनिया का सारा दर्द मिटाने आ गया दुश्मन ने सता कर तुझे हैरान किया कदम कदम पे तुझे हाल से बेहाल किया कदम कदम पे तुझे हाल से बेहाल किया आज उन पर भी आज उन पर भी तू रहमत बरसाने आ गया आज उन पर भी तू रहमत बरसाने आ गया रंज दुनिया का सारा दर्द मिटाने आ गया रंज दुनिया का सारा दर्द मिटाने आ गया प्रीत के कारण प्रीत के कारण जग का पाप हटाने आ गया